नायमात्मा प्रवचन न लभ्यो न मेधया न बहुना न वेद ग्रहण अध्ययन अध्यापन इतने मात्र से ये बड़ा श्रेष्ठ कर्म है वेद अध्ययन अध्यापन स्वाध्याय अध्येतव्य वेदाध्ययन नित्य करने के लिए विधान किया गया तो भी उससे प्राप्त नहीं होगा केवल इतने मात्र से न मेधया मेधाए बड़े पुण्य से ही प्राप्त होती मेधा की प्राप्ति होती है ग्रंथ को धारण करना अर्थ को समझ करके धारण करना यह तो भी इतने मात्र से प्राप्त नहीं होगा न बहुना श्रुतेन श्रवण एक साधन है वेदांत का श्रवण तो बहुत श्रवण करने पर जितने श्रवण करे केवल आत्म प्रतिपादक उपनिषद वाक्य है उससे अतिरिक्त जितने श्रवण करे कोई फल नहीं है व्यर्थ है और उपनिषद श्रवण भी केवल ज्ञानी क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ मुख से श्रवण नहीं करके अपने मन से जितने विचार करे सिद्ध उपदेश के बिना तो भी प्राप्त नहीं होता है उसके श्रवण करे किंतु आगे मनन नहीं करे निधि ध्यान नहीं करे तो संशय विपर रहित ज्ञान नहीं होता है तो ब्रह्म की प्राप्ति आत्मा की प्राप्ति नहीं होती है तो केन तरिलभ्य उचित यमेव स्वात्मान एस साधक वृणते यमेव ऐसा वृणते तेन लभ्य यहाँ तक हो गया था ठीक है मैं परमेश्वर आचार्य अनुग्रह ने तो लभ्यते थे परमेश्वर आचार्य के अनुग्रह से प्राप्त होता है यमेव आत्मानम ऐसा साधक वृणुते आत्मस्वरूप का ही वर्णन करता है परमात्मा को अभिन्न चिंता अहम अस्मि चिंतन करता है प्रातः तेनैव आत्मना वरित्रा वर्ण करने वाले के द्वारा ही प्राप्त होता है स्वयं आत्मा लभ्य ज्ञायते जो साधक है स्वयं वर्ण करने वाला ही उसके द्वारा वही आत्मना यम वृणुते जो परमात्मा को स्वीकार करता है प्रार्थना करता है अभिन्न चिंतन करने से वो अतद अभिन्न रूप साधक से स्वयं आत्मा लभ्य ज्ञायते तेतत् टीका में स्वात्मानमेव साधक श्रवण मननादि भी वृणुते तम भजते श्रवण प्रारंभ में तो निश्चय नहीं होता है किंतु श्रवण जब करता है तात्पर्य निर्णय होता है वेदांतानाम अशेषाणाम आदि मध्य अवसानतः ब्रह्मात्मनेव तात्पर्यम इति श्रवणम भवेत सारे वेदांत का तात्पर्य जीव ब्रह्म की एकता में ऐसा निश्चय हो जाना ही श्रवण है श्रवण से ये निश्चय होना है करना है तभी आगे मनन होता है तो श्रवण मनन आदि के द्वारा जब विचार करता है स्वात्मानमेव साधक वृणुते भजन करता है क्योंकि परमात्मा को अहम अस्मि से चिंतन करता है वृणुते का तो संभजे भजन करता है प्रार्थना करता है श्रवणादि काले भी सो अहम इत अभेदेन अनुसंधत्त इत्यर्थः श्रवणादि श्रवण मनन करते समय भी ब्रह्म अहमेव स परमात्मा अहमेव सो अहम इति अभेदेन एवं अनुसंधते इसे अनुसंधान करता सो अहम स शब्द से परमात्मा अहम साधक है मुमुक्षु जिज्ञासु साधन चतुष्ट संपन्न होने पर वेदांत श्रवण प्रारंभ करता है प्रारंभ में अहम अस्मि परम ब्रह्म ये चिंतन करना कठिन होता है नहीं समझ पाता है कैसे मैं ब्रह्म हूँ जब वेदांत का उपदेश बार बार श्रवण करता है से आदि अहम ब्रह्मास्मि एक ही है सदैव समयदम अग्रासित सर्वम खलिदम ब्रह्म ब्रह्म ही है नेह नानाति किंचन ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है तो ही ब्रह्म सत्य है तत्वमसि कहा गया स्वात्मा तत्सत्य तत्वमसी ऐसे बहुत सब उपनिषद में अभेद का उपदेश किया गया तो श्रवण काल में भी धीरे-धीरे श्रुति प्रमाण है अपरुषीय वाक्य है आचार्य ज्ञानी के मुख से श्रवण करता है तो उसमें श्रद्धा अतिरेक होने से दृढ़ विश्वास होता है तो श्रवण करने समय भी अभेद चिंतन प्रारंभ करता है फिर संशय होता है मैं अल्पज्ञ हूँ परमात्मा सर्वज्ञ कैसे एक होगा तो मनन करना होता है मनन से निश्चय होता है औपाधि का भेद है उपाधि के कारण वास्तव भेद नहीं है एक ही बिंब का आने के प्रतिबिंब दिखते हैं किंतु वस्तुतः तो बिंब एक है आकाश एक है अनेक उपाधि में घटमठ गुहा कमंडल में से भेद से भिन्न भिन्न व्यवहार होता है तो आकाश का भेद नहीं होता है इस प्रकार एक चिन्ह मात्र ब्रह्म है ये मनन के द्वारा जब निश्चय होता है तो अहम अस्मि चिंतन करता न एव न एव भेद भिन्न रूप से नहीं अभेद से ही अनुसंधान करता है तो आगे किंतु विपरीत भावना रहती है तो श्रवण मनन आदि भी आदि से ध्यान काल में सो हम अस्मि से लगातार वे अभेद चिंतन करता है इसलिए यम ब्रूणते कौन से जिस परमात्मा को वर्णन करता है अब अभिन्न आत्मा को प्रत्येक अभिन्न को तेने वलभ्य तेने वलभ्य कहन से क्या हुआ वही आत्मा से इसलिए भाष्य में दिया तेने व आत्मना वरित्रा वर्ण करने वाले के द्वारा साधक से ही प्राप्त होता है स्वयं आत्मा स्वयं साधक अभिन्न परमात्मा सभिन्न उससे प्राप्त होता है तो स्वयं अपना ही प्राप्त होता है ये जो कहा गया टीकाकार कहते लक्षण या परमात्मा अनुग्रहण एव वरित्रा परमात्मा अनुग्रह से ये लक्षण करके शब्द से अर्थ तो अर्थ नहीं आता है परमात्मा का अनुग्रह अर्थ नहीं होता है यम एव ब्रुणते तेन अन्यत्र उसका अर्थ कहते तेन न यम परमात्मा ते तेन कह करके यत और तत् का एक अर्थ नहीं करके तेन न भजन है ना अभेद अनुसंधान है नहीं निधि ध्यान से प्राप्त होता है ऐसे भी व्याख्या अन्यत्र है यहाँ लक्षणा करके परमात्मा अनुग्रहण एव परमात्मा अनुग्रहण परित्रा अभेद अनुसंधान बता अभेद अनुसंधान करने वाले साधक से प्राप्त होता है यथा अनुसंधानम आत्मतेवा परमात्मा लभ्य होती यथानुसंधान अनुसंधानम अनतिक्रम्य जिस प्रकार चिंतन करता है ऐसे ही प्राप्त होता है अहम अस्मि चिंतन करता है तो आत्मतया एव परमात्मा लभ्य होती आत्मत्व नहीं प्राप्त होता है लभ्य का अर्थ भाष्य में का ज्ञायते अपने आत्मा की प्राप्ति अप्राप्त की प्राप्ति नहीं अपने स्वरूपत नित्य प्राप्त है इसे उसका ज्ञान होता है अहम अस्मि इसे ज्ञान दृढ़ संशय विपर रहित तो ज्ञान हो जाना ही प्राप्ति है और कुछ प्राप्ति नहीं है अप्राप्ति का भ्रम है वो नष्ट हो जाता है अप्राप्त भ्रम नष्ट होने से प्राप्ति होती है प्राप्ति शब्द का उपचार गौण प्रयोग वास्तव की प्राप्ति नहीं है अपने स्वरूप ही नित्य प्राप्त है अप्राप्ति भ्रम नष्ट हो जाता है गले में माला है कहाँ गई कहाँ गई भ्रम होता है जब देख जान लिया माला है गले में तो कहते माला मिल गई वो प्राप्ति नहीं है पहले भी थी अज्ञान नष्ट हो गया इसी प्रकार परमात्मा लभ्य भवति लभ्य होती परमात्मा प्राप्त ज्ञान तो हो जाता है अमस्मिन दृढ़ ज्ञान हो जाता है तो ही परमात्मा अनुग्रह से जैसे निधि ध्यान करता है उससे ही साक्षात्कार होता है अज्ञान निवृत्त हो जाना ही है वैपरीत्यन वायोजना उसके अन्य प्रकार योजना अन्वय बताते हैं आत्मा तो एष प्रकरणी परमात्मा अंतर्यामी रूपेण आचार्य रूपेण वा व्यवस्थित यम एवं मुमुक्षम वृणुते भजते अनुगृणाति मायमात्मा प्रवचन लभ्य करे आत्मा है आत्मा का प्रकरण है प्रकरणम जिसका उसको कहेंगे प्रकरणी प्रकरणम अस्य अस्तिति प्रकरणी प्रकरण वाला किसका प्रकरण है आत्मा हो गया प्रकरण आत्मा का प्रकरण है परमात्मा अंतर्यामी रूपेण आचार्य रूपेण वा व्यवस्थित हो परमात्मा अंतर्यामी रूप से अंतर्यामी ब्राह्मण में ए सत आत्मा अंतर्यामी अमृत यही तुम्हारा आत्मा है अंतर्यामी अमृत परमात्मा जो आत्मा वही परमात्मा अंतर्यामी रूप से आचार्य रूपेण वा ईश्वर गुरु आत्मेति आत्म रूप से ही परमात्मा है आचार्य रूप से भी स्थित है व्यवस्थित है ऐसे ही परमात्मा आचार्य रूप से स्थित और अंतर्यामी रूप से स्थित है यम एवं मुमुक्षम जी जिस मुमुक्षु को वर्ण करते भजते का तो अनुग्रह करते जिस साधक को अनुग्रह करते परमात्मा आचार्य रूप से रह करके अथवा अंतर्यामी रूप से रह करके जिसको अनुग्रह करता है तेनैव परमेश्वर अनुग्रहितेन अवेद अनुसंधानवता लभ्यते वही प्राप्त करता है परमेश्वर अनुग्रहित परमेश्वर से अनुग्रहित होकर के साधक अवैध अनुसंधान बता केवल अनुग्रह से नहीं अभेद अनुसंधान करता है और अनुग्रह अनुग्रह होने पर अभेद अनुसंधान निरंतर चलता है चलते फिरते भी अभेद अनुसंधान हो ये अभेद अनुसंधान बता साधक ने लभ्यते प्राप्त होता है अभेद अनुसंधान है ध्यासन अहम अस्मि ब्रह्म इस वृत्ति का प्रवाह लगातार चले वृत्ति का प्रवाह चलाने के लिए कोई नहीं लगातार समाधि लगाकर बैठने से होगा समाधि का अर्थ नहीं खाली बैठने से वृत्ति लगातार चले बैठ करके मन इधर-उधर भागता है वो समाधि नहीं है और खाली शून्य हो जाए वृत्ति नहीं वो भी नहीं ये उसको नहीं समझना मन में कुछ चिंता नहीं खाली रह गया खाली रह जाने मात्र से ज्ञान नहीं होगा ज्ञान तो प्रमाण से होता है प्रमाण है महावाक्य महावाक्य अर्थ चिंतन है अहम अस्मि ब्रह्म अर्थ चिंतन ब्रह्माकार वृत्ति जैसे घटाकार वृत्ति घट का निश्चय घट ज्ञान घट ज्ञान हो तो घटाकार निश्चय मोदक लड्डू खाया तो मीठा लगता है मधुराकार वृत्ति हुई वो निश्चय है कोई कहे ना ये खटा है तो कोई नहीं मानेगा मीठा तो स्वयं अनुभव कर रहा है इसी प्रकार यदि अनुभव नहीं हो नीम खिला करके मीठा मीठा कहो मीठा लगता है मीठा लगता है बसा भी कहता है मीठा लगता है फेंकता है मीठा लगता है कौन से मीठा लगेगा क्या कड़वे लगते फेंकता है जब स्वयं करेगा मीठा लगता है यदि उसको कहेंगे नहीं ये कड़वा कड़वा फेंको वो खा लेगा मीठा लगता है क्यों फेंकेगा इसी प्रकार निश्चय होता है वृत्ति है निश्चय अंतकण में वृत्ति होती तदाकार वृत्ति निश्चयात्मिक वृत्ति अहम अस्मि ब्रह्म वो निश्चय शब्द से रटने से नहीं होता है शब्द से तो कोई भी रट लेगा विपरीत निश्चय होते हुए भी मैं परिच्छिन्न मानता है अहम अस्मि ब्रह्म मैं ब्रह्म हूँ ये कहता है ये नहीं जब तक लक्ष्यार्थ निश्चय नहीं होता है तब तक ब्रह्माकार वृत्ति नहीं होती है इसलिए श्रवण मनन के पश्चात मनन करते समय लक्षार्थ ले करके लक्षणा करके शुद्ध चिन्ह मात्र का चिंतन करता है वो वृत्ति का लगातार प्रवाह ब्रह्माकार वृत्ति निधि ध्यान वो निधि ध्यान करने वाले के द्वारा ही स्वयं आत्मा प्राप्त होता तभी परमात्मा और आचार्य का अनुग्रह परमात्मा अंतर्यामी और आचार्य के कृपा से प्राप्त करता है तो कैसे प्राप्त होता है भाष्य में दिया कथम लभ्य इति उच्यते तस्स आत्मा विवृणुते तनु स्वाम उसका आत्मा विवरण करता है खोल देता है प्रकाश करता है स्वाम तनु तनु शरीर यहाँ का स्वरूप है जो वास्तव स्वरूप उसको प्रकट कर लेता है तस्य आत्मकामस्य साधको तो आत्मकाम आत्मानम एव कामयते वही आत्मा की प्राप्ति चाहता है और कुछ नहीं चाहता है आत्मकाम का अर्थ अन्य कोई कामना है ही नहीं निष्काम उसको निष्काम कहते आप तक आत्मकाम हो गया तो निष्काम हो गया क्योंकि आप तक काम हो गया सो प्राप्त हो गया और अकाम हो जाता है वही निष्काम होता है तभी प्राप्त करता है कामना का त्याग इच्छा मात्र का त्याग सारे ऐसणा का सन्यास ही सन्यास है सन्यास शब्द का अर्थ ऐसणा त्रय सन्यास त्याग है ऐसणा इच्छा पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेशणा सारे कामना का त्याग कर दे निष्काम हो जाए तभी साक्षात्कार होता है इस आत्मा विवृणुते का अर्थ प्रकाशयति खोल देता है अपने स्वरूप प्रकट कर लेता है पारमार्थिकम तनुम स्वाम जो पारमार्थिक स्वरूप है आविद्य का स्वरूप तो सबको मालूम है अहम हम कहते घटोपट सर्वत्र घटो अस्ति पटो अस्ति जब अस्ति अस्थि कहते सदरूप ब्रह्म का अन्य होता है सुवर्ण से बनाया गया भूषण ये सोना है ये कुंडल भी सोना है मुकुट भी सोना है सब देखता है तो सोना को देखता है किंतु कुंडल कंकण मुकुट अलग-अलग नाम से कहता है इसी प्रकार सद ब्रह्म ही घट पट पत्र पुष्प फल ये रूप से दिखता है अलग-अलग शब्द से कहता है अलग-अलग रूप दिखता है किंतु अस्ति अस्ति कह करके सद रूप ब्रह्म का अनुगमन होता है सबके साथ अन्वय संबंध होता है वही सदरूप ब्रह्म समझ नहीं पाता है घट अलग सत अलग घटो अस्थि कहते समय घट ही दिखता है और अस्थि कहाँ है घटो अस्थि तो घट हो गया घट है और अस्थि सदरूप कहाँ और किंतु घटो अस्थि पटो अस्थि मठो अस्थि अस्थि अस्थि कहते समय घट पट नहीं पट मठ नहीं किंतु अस्थि सब के साथ मिलकर रहता है यदि घटो अस्ति एक अर्थ है पटो अस्ति एक अर्थ है मठो अस्ति एक अर्थ है अस्थि तो घटपट क्यों नहीं होता है पटमट क्यों नहीं होता है तो घटपट पटमट एक नहीं किंतु अस्थि रूप एक है जैसे मिट्टी से बनाया अलग-अलग बर्तन है कलश घट घट बनाते हैं मिट्टी से कुडल क्या बना सकुरा बनाते हैं हांडी बनाते हैं सब मिट्टी है मृत के अनुगम अनुगत सर्वत्र मित है बाकी जो भिन्न नाम रूप अलग है मिथ्या है सब में मिट्टी सत्य है ये उपनिषद में आया इसी प्रकार सद ब्रह्म ही सर्वत्र सत्य है बाकी सब मिथ्या है तो वास्तव स्वरूप जो पारमार्थिक स्वरूप है यथार्थ स्वरूप सद ब्रह्म वो अन्य जिनका व्यभिचार होता है कहीं है कहीं नहीं कभी है कभी नहीं उनको छोड़ देता है छोड़ करके एक सर्वत्र अनुगत सत्य का अनुसंधान करता है और सर्वत्र ही सो अहम अस्मि मैं हूं हूँ सर्वम ब्रह्म सर्व वासुदेव सर्वम उसे बिना कुछ नहीं तो ब्रह्म से बिना कुछ नहीं नेह नानातिकन से वो एक तत्व है अहम अस्मि ये निश्चय जब चलता रहता है यही समाधि है लगातार वृत्ति चले अभ्यास करते करते कभी कभी बढ़ते समय पूरे देह भान नहीं होगा कुछ पता नहीं चला रह गया आधा घंटे एक घंटा कठिन होता है कभी कभी दो चार घंटा भी रह गया कोई जरूरी नहीं दो चार पाँच घंटा रहेगा तो ज्ञान होगा ये भी आवश्यक नहीं है वृत्ति प्रवाह चलते फिरते चलते रहे तो ज्ञान तो ग्रंथि नाश जो तादात्म्य अध्यास है उसकी निवृत्ति के लिए कोई समय नहीं लगता है समाप्त हो गया संस्कार बहुत विपरीत भावना है क्रमश समाप्त होते होते पूरा समाप्त हो गया कभी एक क्षण में समाप्त हो गया कुछ नहीं तो स्वयं साक्षात्कार होता है ऐसा अभेद अनुसंधान बता कौन से साधक जिसको वर्ण करता प्रार्थना करता उसी परमात्मा से परमात्मा अभिन स्वयं रूपेण और अपने अभेद अनुसंधान करते करते प्राप्त हो जाता है तो आचार्य और परमात्मा के अनुग्रह से प्राप्त होता है क्योंकि इससे अनुसंधान आदि निरंतर चलता है परमात्मा अनुग्रह से और श्रवण जन्य फल होता है श्रवण से तात्पर्य निर्णय मनन आदि आचार्य के अनुग्रह से किंच अन्यत कहकर आगे कहते हैं ना विरतो दुश्चरिता ना शांतो ना समायत ना मानसो वापी प्रज्ञाने नैनमाप्नुयात् दुश्चरितात अविरतो न एनम आपनुयात जो दुश्चरित से विरत नहीं हुआ दुश्चरित है जो शास्त्र निषिद्ध है शास्त्र विहित तो होता है सुचरित शोभनाचरण और दुश्चरित है दुराचार करना शास्त्र निषिद्ध कर्म करता है उससे जब तक तो विरत नहीं हुआ पाप कर्म से उपरत तो नहीं हुआ पाप कर्म करता है ये काल से अनेक जन्म में भटकते हुए बहुत प्रकार वासना है बहुत प्रकार संस्कार है वो संस्कार के अनुसार चेष्टा करता है जीव पशु पक्षी भी तभी जिस जन्म में जाते हैं उस जन्म के संस्कार प्रकट हो जाता है तो बंदर छलांग लगाना माता को पकड़ कर रखना छोटे बच्चा है मनुष्य कितने बड़े होते हैं तो हम नहीं पकड़ पाए छोटे बच्चा बंदर माता को पकड़ रहता है बंदर छलांग लगाता है छलांग लगाते समय भी छोटा बच्चा पकड़ कर रखता है मनुष्य को ये थे देखो मनुष्य छलांग लगे बच्चे को इसे रखता है पकड़ता है स्वयं पकड़ते समय भी चेका भी छूट जाता है और सीखता है पक्षी उड़ना सीखता है कौन उसको सिखा देता है मन से चेष्टा करेगा तो उड़ नहीं पाएगा पक्षी उड़ जाता है किसके पास ज्यादा सामर्थ्य है <laughs> पक्षी आकाश में उड़ जाता है मनुष्य आप लोग चेष्टा करो उड़ने के लिए मनुष्य अपने को बुद्धिमान मानता है बंदर छलांग लगाते एक पेड़ से दूसरे पेड़ बिल्ली आदि कितने दूर छलांग लगा देते हैं ये सब के पास अलग-अलग संस्कार से ही अलग-अलग संस्कार उद्भूत होता है जिसमें जाता है इसी प्रकार मनुष्य भी अलग अलग संस्कार अलग अलग वासना के कारण स्वभाव अलग अलग है जो कर्म पहले कर्म था संस्कार वासना है उसके अनुसार अभी जन्म बना वो कर्म के अनुसार पूर्व अभ्यास के अनुसार प्रवृत्ति होती है इसलिए किस किस की प्रवृत्ति होती है सरल मार्ग में चलने के लिए किसी किस की प्रवृत्ति होती है टेढ़े मार्ग में चलना सरल बात पर सिद्धा नहीं करे टेढ़ा उल्टे पलटा करना झूठ बोलने में किसको बड़े रुचि है झूठ बोल कर दूसरे को ठग दिया उसे खुश होता है कि मैं झूठ बोला वो विश्वास कर लिया विश्वास कर लेना तो अच्छा है सरल मार्ग में चलना अच्छा है टेढ़ा मार्ग में जाता है उसमें खुश है झूठ बोलने से कुछ लोग ऐसे झूठ बोलते हैं आगे समझ में आ जाता है कि झूठ है किंतु बोलते हैं खुश लगता है कहीं जाकर झूठ बहुत कुछ बोलेंगे सब लोग सोच सुनेंगे फिर बाद में पता चला सो झूठ बोला बोले क्यों बोला कभी कभी बोलते हैं हाँ हमको ऐसा अच्छा लगता है सब लोग बैठ कर सुने हम बोलते हैं कुछ ना कुछ बोलेंगे ऐसा बड़े खुश होकर बोलते हैं तो उनको से बुरा भी नहीं लगता झूठ बोला कर कहने से ये बोलते क्या करेंगे थोड़ा ऐसा बोलने से अच्छा लगता है तो ये कुछ अभ्यास में से रहता है ये कोई ठीक है अभ्यास के कारण दुर्गुण सम में कुछ हो सकता है तो दुर्गुण को छोड़ना चाहिए साधु को अभ्यास करना है यदि कुछ दुर्गुण सम में दुर्गुण कुछ ना कुछ है पूर्व जन्म में बहुत प्रकार बहुत चेष्टा बहुत प्रकार है जितने जितने दुर्गुण समझकर छोड़े तभी साधना होती है और दुर्गुण को नहीं छोड़े बड़े अभ्यास करें निष्ठा हम करते बड़े उपासना करते हैं दो चार घंटा बैठते हैं दरवाजा बंद करके दो चार दिन मौन रह जाते हैं अथवा बड़े अभ्यास करें मौन रह गया ये कुछ भी करे दुर्गुण अभिमान घमंड अहंकार इसको छोड़ना पड़ता है कामना का त्याग ये छोड़ने से ही बड़ा साधन होता है जितने साधन करे उसका फल इसमें है साधन बहुत करे यदि कामना नहीं त्याग करे अहंकार नहीं छोड़े झूठ का मिथ्याचरण कपट नहीं छोड़े तो साधन व्यर्थ है साधन करते करते ये होना चाहिए इसलिए ये सब जो कर सकते इसको छोड़े जो जितने हो सकता है सन्मार्ग में सरल मार्ग में चलना दुश्चरितात तो अविरत न प्रज्ञानेन न मापनियाद उसको ज्ञान हो जाएगा परम परमात्मा प्राप्त कर लिया कभी नहीं है इसलिए जो दुष्चरित निषिद्ध स्वयं जानता है जो गलत है तो भी सोचता है ऐसा कर लिया किसी को पता नहीं चले किसको पता नहीं चले तो गलती है क्या नहीं जो गलती है यदि झूठ कोई बोल दिया दूसरे किसको पता नहीं चला तो उसको झूठ कहेंगे या सत्य कहेंगे वो तो मिथ्या है किसको पता नहीं चले तो भी मिथ्या है इसी प्रकार कोई गलत कर्म कर लिया किसी को पता नहीं चला पता नहीं चला क्या अंतर्यामी तो है परमात्मा सर्वत्र है पता चले या तो नहीं चले यमराज के मंदिर में वो शिक्षा देते हैं किसको पता चला नहीं चला तुम सो तो किसको पता नहीं चला ये बिल्ली घड़ा में मुकरो रहकर दूध पीती है उसको बाहर कुछ दिखता है घड़ा में मुकुट आकर दूध पिएगी तो बाहर दिखेगा उसको वो सोते हमको कोई नहीं दिखता है उधर से अगर कोई पिटाई करता है मुख अंदर घुस गया तो वो नहीं देखता है उसको नहीं देखने वाला है उसको देखते हैं इसी प्रकार कोई नहीं देखता है ये नहीं देखने वाले देखते हैं सर्वत्र परमात्मा है देवता लोग देखते हैं यमराज के दूत स्थान में ये सब देखते हैं और रिकॉर्ड हो जाता है क्या किस समय किसने किया इसलिए साधन करते करते ये जो दुर्गुण है उसको छोड़ना है सरल मार्ग को अपनाना है गलत मार्ग जानबूझकर छोटी-छोटी चीज में झूठ बोल देना ये ये अभ्यास को छोड़ना है हो जाता है कई यदि ये हो गया होता है बहुत लोग में इससे स्वभाव तो होता है सब में तो धीरे-धीरे करे छोड़ना होता है वो सामान्य चीजें प्रातः काल आरती में आना है आज वर्षा है ठंडी है नहीं गया तो पूछेंगे क्या कहें कहेंगे हां थोड़ा स्वास्थ्य खराब कहते हैं क्या है तो ये कहने के लिए तो पहले से तैयारी कोई बोलते क्यों बात स्वास्थ्य खराब है ये कहने के लिए तैयार होकर झूठ क्यों कहना सीधा क्यों नहीं आ जाना ऐसी प्रकार छोटी चीज उसमें कुछ नहीं होता सच मार्ग में सरल यदि ठीक सच बोलने का चलेगा तो ये निषिद्ध कर्म छूट जाता है झूठ बोलने का जब आश्रय लेता है तो निषिद्ध कर्म करता ही रहता है क्योंकि उसमें सुविधा है तो ये दूसरे को ठगने का नहीं होता है ऐसे करने वाले का ज्ञान होगा ही नहीं परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी साधक के लिए आवश्यक है दुश्चरितात अविरत न प्रज्ञानेन याद ज्ञान से उसको प्राप्त कर लिया कभी नहीं है ना शांत अशांत है अशांत है इंद्रिय चांचल्य इंद्रिय चांचल्य का अभाव इंद्रिय में चांचल्य स्वभावत है इंद्रिय बाहर दौड़ती है उसका भी निवृत्त शांत करना है निवृत्त करना अपने गोलोक में स्थापन करना समदम में सम से अंतकण उपसम दम से इंद्रिय को दमन करना इसे कहा जाता है कहीं कहीं सम शब्द से इंद्रिय उपसम भी कहा गया तो यहाँ अशांत कहा था इंद्रिय चंचल्य से अनुपरत अशांत तो शांत हो गया मतलब इंद्रिय को निग्रह कर लिया न असमाहित असमाहित चित्त चित्त जिसका समाहित नहीं हो एकाग्र नहीं है समाधान सम्यक आधानम समाधानम सम्यक आधान चित्त को सम्यक स्थापन एक में रखना जो सामान्य ध्यान अभ्यास करते हैं यद्यपि इतने मात्र से ज्ञान नहीं किंतु पहले आवश्यक है धारणा ध्यान समाधि एक स्थान में मन को लगाना ये तो धारणा देशबंधस चित्त से धारणा चित्त को किसी एक स्थान में लगाने का अभ्यास करें चित्त दौड़ता है बहुत उसको कहते व्यग्रता एकम अग्रम यस्य एकाग्रम चित्तम ये अग्र एक है एक स्थान में लगाना धारणा होने पर फिर ध्यान होता है लगातार प्रत्येक तानता ध्यानम लगातार चिंतन को कर पाए ये मन में सामर्थ्य हो तो वेदांत चिंतन कर सकता है मनन कर सकता है निधिध्यासन में करेगा इसलिए पहले ध्यान आवश्यक है किंतु ये नहीं समझे वेदांत विचार की अपेक्षा केवल ध्यान करके ही परमात्मा साक्षात्कार हो जाएगा ये नहीं साक्षात्कार है ज्ञान ज्ञान होता है प्रमाण से प्रमाण है वेदांत प्रमाण महावाक्य उसी से ही ज्ञान होगा इसलिए ध्यान करते करते खाली मन खाली हो गया इतने मात्र से नहीं समझना सब हो गया वो नहीं इतने तक हो गया वो उसके आगे लय अवस्था है लय है चित्तम लय अवस्था में सम्यक चित्त को बोधन कराए लय में इसे रह गया मन कुछ नहीं वृत्ति के बिना कसाय अवस्था वो सब नहीं इसलिए वेदांत श्रवण मनन करना होता है उसके लिए आवश्यक है इंद्रिय चांचल्य समा नहीं हो और समाधान हो चित्त में विक्षेप नहीं हो विक्षेप का की निवृत्ति हो जाती मन एकाग्र होता है किंतु उसके बाद लयावस्था को भी त्याग करके मन को लगाए वृत्ति का प्रवाह करे तो जो असमाहित है चित्त जिसका विक्षिप्त है वो भी प्राप्त नहीं कर सकता है न अशांत मानस हो मन जिसका शांत नहीं हुआ अशांत मानस क्या क्या मन तो विक्षेप से रहित तो हो गया किंतु चाहता है कुछ प्राप्त करने के लिए जो मन में है सूक्ष्म रूप से वासना है बहुत वैराग्य हो जाता है किंतु मन में फिर रहता है कुछ कुछ साधु में अच्छे अच्छे साधु में बहुत में ये वासना है लोक वासना के कारण कुछ चमत्कार मिल जाए हम दूसरे को दिखा दे चमत्कार दूसरे को चमत्कार दिखाने से मोक्ष मिल जाएगा ना केंद्र चमत्कार दिखाने की इच्छा बहुत में हो जाती है सब छोड़ने के बाद सोचते अभी हमको कुछ हो जाएगा तब लोगों के साथ दिखाएंगे लोग हमको बहुत बड़ा मानेंगे पूजा करेंगे ये लोक वासना लोग हमको आशा कहेंगे पूजा करेंगे फिर धन संपत्ति ये जो वासना है धन संपत्ति की इच्छा नहीं हो तो कम से कम सबसे बड़ा मानेंगे बड़े प्रसिद्ध हो गया कोई कोई सब दूसरे महात्मा के विषय में कहेंगे बड़े सिद्ध महात्मा थे क्या सिद्ध महात्मा थे और गाड़ी में जा रहे थे उनको उतार उतार, उतार दिया और बैठ गए तो गाड़ी बंद हो गई बंद हो गई तो फिर उनको लाए बुलाए तब तो गाड़ी चली और ऐसे ऐसे कुछ कुछ सब बात बना करके कहते हैं कोई हिमालय में गए कोई गुफा में बैठे और जाकर देखा वो नहीं क्या कहेंगे कोई नहीं दिखता है हम लोग सुनाएंगे हम ऊपर गए थे पहाड़ में चढ़ गए बहुत ऊपर में कोई नहीं है क्यों देखा पाद चिन्ह दिखता है यहाँ किसका पाद चिन्ह कौन आदमी है थोड़ी देर में देखा कोई आदमी की बात सुना कहाँ से बात सुनाई पड़ती है फिर गया तो एक स्थान में छोटी सी रास्ता है उस रास्ते में अंदर गया सो वहाँ सिद्ध महापुरुष बैठे हैं तो डांटे क्यों आया चले गए फिर बाद क्या चाहिए पूछा ये बोला हमको ठंडी लगती तो खाने के लिए क्या खाओगे वो तो हम गर्म खीर पीना चाहते हैं ना ले लो ये घड़ा में से ले लो कमंडल रखा ऐसे दिखाया देखा तो खीर निकला खीर गर्म गर्म खीर पिला फिर थोड़ी देर बाद कहा हमको थोड़ा आम रस पीने की चाहे हाँ, ले लो आम रस ले लो उसी कमंडल डाला ऐसे ऐसे कुछ कुछ बताएंगे और सुनने वाले कहे बड़े अच्छा है बड़े ये तो ये कितने सिद्ध है ऐसे सिद्ध महापुरुष का दर्शन किया ऐसे स्थान दिखाया तो ये लगे हम बहुत अच्छा है कुछ लोग जाकर इसे लोग में कहते हैं और नाम बताएंगे वो पहाड़ के ऊपर हम रहते हैं बद्रीनाथ आकर के कवि लोग आए पूछे कि महात्मा हमको मिले थे वो बताया हमको पहाड़ के आगे दूसरे पहाड़ है वहाँ हम रहते तो महात्मा ने बताया वहाँ कोई नहीं जा सकता कुछ नहीं सा है कुछ लोग ऐसे जो बोलते हैं लोग में जाकर कहेंगे हम वहाँ रहते ऐसे ऐसे ये सब जो है ये संसार माया में कितने दूर चले जाते हैं जो लक्ष्य उद्देश्य कहाँ छुट गया लोग झूठ बोल करके सिद्धि चमत्कार अच्छा सत्य भी हो जाए तो क्या हो गया सत्य होने पर भी खीर खीर कोई दे दिया आमरस दे दिया कुछ भी दे दिया तो क्या हो जाएगा उसके लिए ही सब साधन तपस्या है यही करने के लिए इसलिए ये सब विचार करके अशांत मानस में कहा गया तो फलार्थ समाधि अवस्था करते फल की इच्छा ये फल इसका कुछ मिले हमको कुछ मिले ये है तो मन शांत नहीं हुआ ये ये सब प्रज्ञानेन एनम न अपनी ये जो दुश्चरित्र से विरत नहीं हुआ जो इंद्रिय चांचल्य रहित नहीं हुआ जो एकाग्र चित्त नहीं है जिस मन फल चाहता है ऐसे साधक प्रज्ञानेन एनम न अपने याद इस आत्म तत्व को प्रज्ञानेन एनम न अविरत न आएगा न अपने याद दुश्चरितात अविरत एनम प्रज्ञानेन न अपने याद अन्य ठीक से समझना इसे बड़े लोभ्रांति होती है प्रज्ञाने नैन प्रज्ञाने अलग करके कहते नैनम आत्मयात ऐसा नहीं प्रज्ञानेन प्रज्ञान के द्वारा ज्ञान से इस आत्मा को प्राप्त नहीं करता है ज्ञान से ज्ञान हो गया तो प्राप्त नहीं क्यों नहीं करेगा ज्ञान उसको होगा ही नहीं ब्रह्म ज्ञान रूप द्वारा ही नहीं होने से ज्ञान नहीं होगा तो ज्ञान से प्राप्त नहीं कर सकता है इसे आत्मा को ब्रह्म ज्ञान द्वारा प्राप्त नहीं कर सकता है अतः ब्रह्म ज्ञान होगा ही नहीं ब्रह्म ज्ञान होगा तो ब्रह्म ज्ञान से प्राप्त होगा ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा तो ब्रह्म ज्ञान से प्राप्त वह ऐसा नहीं कर सकते <clears throat> न दुश्चरितात् अविरत दुश्चरित किसको कहेंगे प्रतिसिद्धात जो प्रतिष्ठित शास्त्र में निषिद्ध है और जितने शास्त्र में निश्चय कितने निषेध करेंगे इसलिए कहा गया श्रुति स्मृति अभिहितात श्रुति स्मृति से जो बीत नहीं है वो सब उससे निवृत्त होना चाहिए शास्त्र बीत है तो अवश्य कर्तव्य है शास्त्र बीत नहीं उसको छोड़ना है शास्त्र बीत नहीं क्या पाप कर्मण पाप कर्म है तो कुछ कर्म है भीत है तो भी नहीं करना होता सेन नाभिचरण यजेत जो अपने शत्रु को मारना चाहता है सेन आग करे सेन आग करेंगे तो शत्रु मर जाता है शत्रु तो मर जाएगा किंतु सेने आकर के जो शत्रु को मारेगा मरवाएगा वो नरक जाएगा तो वहां विहित है इसलिए कुठार लेकर के खड्ग लेकर जाता है शत्रु को मारने के लिए उसको रोकने के लिए क्यों इसमें इसमें मारोगे अभी कर्म करो सेने आकर मर जाएगा तो सेने आ करने के उद्देश्य से पहले जो क्रोध से दौड़ता उसको रोक दिया रोकने के बाद सेने आ करते समय यदि उसके मन में परिवर्तन हो गया याग नहीं करेगा तो रुक गया अच्छा है यदि नहीं कर प्रवृत्त नहीं हुआ सेना करेगा शत्रु तो मरेगा किंतु करने वाले नरक जाता है इसे सेन याग शास्त्र से बीत होने पर भी पाप कर्म है इसलिए यहाँ अभिहित तो कहने के बाद कहा श्रुति स्मृति अभिहितात कहने के बाद बीत होने पर भी सेन याग आदि पाप कर्म से जो विरत नहीं हुआ निवृत्त नहीं हुआ उसको ज्ञान हो नहीं सकता है अर्थात थोड़ा सा भी निषिद्ध कर्म करता है तो ज्ञान नहीं होगा जानबूझ करके गलत कर्म करे और सोता है किसको पता नहीं चले या पता चलने पर हम झूठ बोल देंगे ऐसा नहीं एकदम साफ पूरा थोड़ा सा भी कुछ गलत है मार्ग है गलत कर्म गलत मिथ्या वचन छोड़ना है तभी ज्ञान होगा इसका अत्यंत त्याग करना पड़ेगा अविरत दुश्चरिता तो अविरत न एनम प्रज्ञान न अपुनियात तो ज्ञान उसको नहीं होगा तो प्राप्त नहीं होगा ना पिंद्र लौल्याद अशांत का अर्थ क्या इंद्र लौल्य लौल्य चांचल्य उसे अशांत अनुप्रत इंद्रिय का चांचल्य है स्थिर नहीं इधर उधर मन में चांचल्य हो तो इंद्रिय में अधिक चांचल्य होता है तो इंद्रियों को जीतना पड़ता है के सत्रव संति इंद्रिया सबसे बड़े शत्रु अपने इंद्रिय है के सत्रव संति निजेंद्रियानि तानेव मित्राणि जितानि यानि वही इंद्र मित्र हो जाता है उनको जीत लिया तो नहीं तो शत्रु शत्रु इसलिए है तो अपने लक्ष्य छोड़ करके कहाँ लेकर पहुंचा देते हैं नरक लेकर पहुंचा देते हैं इंद्र के पीछे भागता है मन में भागे बुद्धि को ले लिया फिर निषिद्ध अनिषिद्ध कर्म कुछ विचार नहीं करेगा जानने पर भी कि हम नहीं मानते जो होगा देखा जाएगा ज्यादा इंद्र के पीछे भागेगा तो फिर निषिद्ध कर्म करेगा फिर नरक उसके लिए प्रसत्त है नरक में लोग बता अच्छा है तुम्हारे लिए जैसे लोग हमारे हमको चाहिए नहीं तो किसको हम शिक्षा देंगे तो इसे चाहिए खुश होकर आओ आओ तुम्हारे कर्म का फल हम देने के लिए बैठे हैं देते कर्म फल पुण्य कर्म हो तो स्वर्ग में देने के लिए देवता लोग देते हैं और पाप कर्म हो तो नरक में देते फल तो देते शिक्षा देते हैं इसलिए चाहिए इंद्र लौल्य से इंद्र चांचल्य से निवृत्त होना चाहिए ना शांत इंद्र लौल्याद तो अशांत अनुपरत एनम प्रज्ञानेन न अपनी आत जो अनुपरत है वो प्राप्त नहीं कर सकता है नाप्य समाहित तो। समाहित नहीं हो अर्थात अनेकाग्रमण अनेकाग्रम मनु यस्य सनेकाग्रमना एकम अग्रमेश एकाग तत् एकाग्रम मन न एकाग्रमित अनेकाग्रम अनेकाग्रम मनु यस्य जिसका मन एकाग्र नहीं है अग्र एक हो मन इधर-उधर भागता है अग्र से अलग-अलग है किंतु सबका अग्र एक हो जाए सब मन उधर-उधर भागते सब एक कोई एक को ही ध्यान करने की आवश्यकता है मन को एक में लगाना एक में लगने से मन में बड़ी शक्ति है और स्वरूप की अभिव्यक्ति होती है जिस प्रकार सूर्य किरण इतने जगह सूर्य किरण वो कांच के द्वारा लेकर के एक बिंदु में डाल दो अग्नि प्रकट हो जाती है दिन भर धूप में बैठते कुछ नहीं है किंतु इतने ग्लास कांच के सूर्य किरण को एक बिंदु में रख दिया अग्नि प्रकट होती है इसी प्रकार ये मन में सबके मन में शक्ति है मन इधर-उधर भागता है बहुत चिंतन करता रहता है दिन भर जानता है कुछ होने वाला नहीं तो भी चिंतन करता है ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए ये भी चिंतन करता है क्या हुआ था उसको भी सोचता है ये बहुत ही चिंतन करता है वर्तमान में विषय इधर-उधर मन भागता है सब मन को इधर-उधर सटा करके एक अग्र हो जाए तो परब्रह्म सर्वव्यापक सर्वत्र है एक अग्र एक में परमात्मा में मन लग जाए तो साक्षात्कार होता है उसको करने के लिए पहले ध्यान धारणा ध्यान करना पड़ता है जिसका मन इसे एकाग्र नहीं हुआ अनेकाग्र मना अर्थात विक्षिप्त चित्त विक्षिप्तम चित्तम यस्य चित्त विक्षिप्त है विक्षिप्त क्या है चित्त इधर-उधर भागता है यही विक्षेप है स्थिर नहीं है कभी इधर कभी उधर कभी कहां दौड़ता है स्थिर कैसे विक्षिप्त है और विक्षिप्त चित्त एनम न प्रज्ञानेन अपने आता है उसको ज्ञान नहीं होगा प्राप्त नहीं कर सकता है समाहित चित्तोपि सन ससमाधान फलार्थित्वा नाप्य शांत मानस व्यापृत चित्त चित्त समाहित हो गया मन लगाता है ध्यान करने में बहुत लोग चाहते हैं कि हमको सिद्धि मिल जाए सिद्धि ध्यान योग दर्शन में सिद्धियों का कथन वर्णन है वो सिद्धि प्राप्ति के लिए नहीं योग मार्ग में जाना उसे सिद्धि प्राप्त हो गई तो योग मार्ग की सफलता होगी योग से सफलता फल मिल गया है नहीं है सिद्धियों का कथन उसे बचने के लिए समझना कि ये सब सिद्धि मिलने वाले हैं कि सिद्धि विघ्न तुम्हारे मार्ग में जो परमात्मा प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते उस मार्ग में ये विघ्न है मार्ग में विघ्न कोई जो रास्ता में चोर डाकू मिले उनको ही बंधु समझ कर उनके पास जा गया गया धन समझ लेकर भागे बचने के लिए कहा जाता है ये सब सिद्धि ये मार्ग में तस्कर के समान है ये विघ्न सब है उसे बचने के लिए वेदांत मार्ग में जो साधक है शुरू से सब इच्छा का त्याग ऐसनांतर संन्यास करे तभी आगे जाएगा आगे बढ़ेगा तो उसको विघ्न नहीं आ सकता यदि पहले से ऐसनाम का त्याग किया और इच्छा रह करके कहा क्या समाधान एकाग्र तो हो गया किंतु समाधान फलार्थित्वाद समाहित चित्तो विषम चित्त समाहित होने पर भी समाधान समाधि के फलार्थित्वाद समाधान समाधि के फल जब चाहता है मन शांत नहीं हुआ अशांत मानस अशांत मानसम यस्य जिसका मन अशांत है अर्थात व्यापृत चित्त चित्त व्यापार वाला वही व्यापार फल फल चाहता है फल फल की इच्छा करता है समाधि का फल मिल जाए कोई कोई कहते थोड़ा स्वयं इच्छा करते शरीर उठ जाए ऊपर छलांग ला कर तो लोग ऊपर उठ सकते हैं कोई कोई उठा ऐसे करेंगे दूसरे को कहेंगे फटो लेना ऐसे अपना अभ्यास करेंगे छलांग लगाना पद्मासन ला कर बैठो छलांग लगाना यहाँ से यहाँ से वहाँ तक भी छलांग ला कर जा सकते हैं अभ्यास करके कैसे छलांग लाना जैसे भगवान को लेते हैं ना ऐसे ऐसे करके हाथ नीचे रखो फिर थोड़ा आगे चल जाएगा बच्चे खेलते हैं पद्मासन में हाथ नीचे रखो फिर थोड़ा आगे चल जाएगा और थोड़ा ऐसे करते हैं और कहीं कहीं नीचे बड़े-बड़े गद्दा स्पंज के रख करके ऐसे ऐसे करके थोड़ा ऊपर छलांग लगाए अब फोटो लेना है फोटो ले लेंगे देखेंगे देखो इतने ऊपर उनका आसन है शरीर नीचे से ऊपर उठ गया तो हो गया बड़ा ये सब विभिन्न प्रकार करते हैं ऐसे करते हैं हम देखें ऐसे करके फोटो लेते हैं फिर बताते हैं तुम ऐसे करो तुमको तो विदेश लेंगे ध्यान सिखा देते गाय ऋषिकेश में तो विदेश लेंगे लोग सब प्रयास करके छलांग लगाते और जो देखने जाएगा लगे बड़े ऐसे साधक है वो ये सब फल फल चाहते समाधि का फल मिल जाए ये मार्ग में चलते समय कुछ चमत्कार मिल जाए चमत्कार नहीं मिलता तो झूठे प्रचार करते हम कैसे हो गया नाटक दिखाएंगे जैसे कि सीधा कुछ हमको प्राप्त हो गया लोगों को दिखाएंगे ये सब कुछ दिखाना झूठ बोल करके तो गलत है सत्य सिद्धि मिल जाए तो भी कोई प्रयोजन नहीं इसलिए उसे सावधान रह करके ये परमहंस मार्ग है क्या लक्ष्य है कहां पर क्या प्राप्त करना है ये सब भूलना नहीं माया के प्रपंच में हाँ, ये प्रपंच ठगने वाले संसार में भरा हुआ पूरा सारे माया सारा पूरा पहले तो माया उसके कार्य सब उसके परिवार है उसमें है सहायक भी है और विरोध करने वाले बहुत है ठगने वाले विरोध मतलब ठगने वाले अपने विषय खींच लेने वाले तो सावधान होकर के अपने लक्ष्य को नहीं विस्मरण नहीं करके आगे चलना पड़ता है इधर-उधर देखेगा तो नहीं मिलेगा समाधि का फल चाहिएगा तो मन शांत नहीं हुआ मन उसमें लगा ऐसा जो साधक है प्रज्ञान नैनम आपनियात न कान्यो न आपनियात प्रज्ञान ने कहा था ब्रह्म विज्ञान न एनम प्रकृत आत्मानम आत्मनयात ये न का अन्वय है ये जो अधिकारी है इस अधिकारी ब्रह्म विज्ञान से इसी प्रकृत आत्मा को प्राप्त नहीं करता है न आत्मनयात न अविरतो आत्मनयात प्रज्ञानेन एनम आत्मनयात कह न अविरत अविरत न याद न अविरत आत्मनयात अविरत न प्राप्त करता है इसी प्रकार न असमाहित आपुनियाद असमाहित न आपुनियाद सब न का क्रिया के साथ अन्य करना प्रज्ञानेन का अर्थ ब्रह्म विज्ञानेन एनम प्रकृत आत्मानम न आपुनियात अविरतो न आपुनियात वहां से न हटा करके यहां जोड़ना अब दुष्चरितात अविरतो एनम प्रज्ञानेन न आपुनियात अशांत मानसो एनम प्रज्ञानेन न आपुनियात असमाहितः एनम प्रज्ञानेन न अपनियात अशांत मानस वापि एनम प्रज्ञानेन न अपनियात प्राप्त नहीं कर सकता है ब्रह्म विज्ञान हो जाएगा तो प्राप्त क्यों नहीं होगा तो ब्रह्म विज्ञान ही उसको नहीं होगा ब्रह्म विज्ञान न प्राप्त नहीं था तो ब्रह्म विज्ञान ही नहीं होगा टिप्पणी में दिया यथोत्तस ब्रह्म विज्ञानमेव न उत्पद्य इति भाव यह अभिप्राय ज्ञान ही नहीं होगा तो फिर प्राप्त कौन करेगा यस्तु दुश्चरितादि विरत देखो प्रज्ञानेन ब्रह्म विज्ञान एनम आपनियात कह करके यस्तु ये विलक्षण उसका बेन न बताते हैं पहले न प्राप्त करता है कि अन्वय करना अभी प्राप्त कौन करेगा जो दुश्चरित से विरत हुआ उपरत हो गया निषिद्ध कर्म पाप कर्म नहीं करता है इंद्र लौल्याच्य इंद्र लौल्य से भी चांचल्य से भी उपरत हो गया इंद्रिय में स्वभाव विषय को दौड़ना उससे निवृत्त हुआ असमाहित चित्त असमाहित नहीं जित का चित्त समाहित हो गया और समाधान फलादपि उपशांत मानस समाधि के फल से भी मन शांत हो गया फल नहीं, नहीं चाहता है ऐसे जो है और आचार्यवान आचार्य से तत्व निष्ठ ब्रह्मनिष्ठ आचार्य जिसका है ऐसे आचार्य से उपदेश ग्रहण करता है कोई हमारे गुरु है बड़े बड़े बड़े गुरु हैं अशिष्ट भागता है इधर सारा संसार में भटकता है कोई कहे हमारे गुरु बहुत बड़े ऐसे गुरु बड़े गुरु हो गया और अपने स्वयं साधन नहीं किया तो प्राप्त हो जाए नहीं आचार्य हमारे हां हां हमारे आचार्य है बड़े ज्ञानी हमारे आचार्य और स्वयं भटकता है आचार्यवान ऐसे आचार्य से उपदेश ग्रहण करता है आचार्य के अधीन रहता है तभी आचार्यवान एक बार मंत्र ले लिया दीक्षा हमारे गुरु है इतने मात्र से नहीं आचार्यवान पुरुष वेद आचार्य जिसका है वो आचार्यवान ऐसे पुरुष आचार्य है आचार्य के अधीन में रह करके श्रवण करता है आचार्य में समर्पित हुआ आचार्यवान धनवान कहते धन जिसके पास धनवान दस रुपया धन है तो धनी है ना नहीं दस रुपया भी कहेगा हम धनी कौन धनी नहीं सारा सब धनी पाँच पैसा का नाश्ता मिल गया वो कहे हमें धनी हो गया पाँच पैसा भी आजकल मिलेगा नहीं पता नहीं <laughs> मिल, मिलता नहीं पाँच पैसा रास्ता में तो मिल सकता है <laughs> पुराने इसी प्रकार आचार्यवान मतु प्रत्यय आचार्यवान का है आचार्य के अधीन हो निरंतर आचार्य के अधीन श्रद्धा भक्ति सेवा पूर्वक आचार्य श्रवण करते रहे तब प्रज्ञानेन एनम आपनुयात आत्मनो प्राप्त तीर्थ प्राप्त करता है तो साधन होने पर प्राप्त होगा इसलिए श्रुति कहती क्या क्या करना है साधक को कैसे प्राप्त होगा और नहीं करके कोई क्या प्राप्त नहीं होता है इनमें सामने है नहीं उसको लगाता है कहता है इससे कहाँ से अग्नि आएगी अरे ठंडा टंडा लगता है कोई कहता है ऐसे मैचिस ऐसे ऐसे कर्ण से अग्नि निकलेगी वो कहता है कहाँ अग्नि में देखो अभी सत्ययुग में होता है आजकल इस अग्नि कहाँ निकलेगी मैचिस चीज को पकड़ा और इसमें अग्नि कैसे निकलेगी <laughs> ऐसे ऐसे कर्ण से कहाँ निकलेगी ऐसे फेंक देता है तो अग्नि कहाँ पकड़ोगे इसी प्रकार साधन है में श्रुति में कहा गया जैसे श्रुति प्रमाण अपौरुष वाक्य है उसके अनुसार साधन करना ही पड़ेगा ऐसा नहीं हो तो क्या हो जाता है क्या हो जाता है नहीं मिलेगा और क्या होगा जैसे कहा गया ऐसे करना पड़ता है करने पर प्राप्त होगा क्यों प्राप्त नहीं होगा साधन इसलिए शास्त्र श्रवण करते समय और अपने कर्तव्य निश्चय करना है हमारे में क्या कमती है उसको छोड़ना है क्या गलत कर्म कर रहा उसको छोड़ना है कितने झूठ बोलते विचार कर उसको छोड़ना है राग द्वेष क्या क्या उसको छोड़ना है ये इसे अभ्यास करने पर धीरे-धीरे छोड़ता है और सब दुर्गुण का त्याग करने पर अवश्य ही साक्षात्कार होता है ओम सहनावतु सहनौ